वैसे तो विक्रांत हर समस्या से आसानी से निपट लेता था लेकिन जब वो खुद के ऊपर कैमरे को फ्लैश लाइट आते हुए देखता था तो काफी नर्वस हो जाता था उसे उम्मीद भी नहीं थी कि अचानक से इतने सारे कैमरे लिए हुए मीडिया कर्मी उसे घेर लेंगे विक्रांत किसी तरह से अपना चेहरा छिपाते हुए यहां से बचकर भागना चाहता था लेकिन शायद अब यह करना इतना आसान नहीं था वो जहां जहां जा रहा था उसके पीछे मीडिया वाले कैमरा लेकर भागते हुए नजर आ रहे थे विक्रांत को गुस्सा भी आ रहा था वो गुस्से से रिएक्ट करने ही वाला था कि अचानक से उसने देखा कि यहाँ पर विजय सेंगर अपनी पत्नी और बेटी अन्वेषा के साथ यहाँ पर पहुंचा हुआ था विक्रांत सर विजय ने जैसे ही विक्रांत को देखा उसने इमोशनल होते हुए कहा सर हम लोग आज यहाँ पर आपको थैंक यू बोलने आए हैं हाँ सर विजय की पत्नी ने भी उसके साथ ही बोलना शुरू कर दिया सर अगर आप ना होते तो हमारी बेटी के साथ ना जाने क्या हुआ होता आपने हमारी बेटी को ढूंढा और फिर टीना के असली कातिल को सजा दिलवाई वरना उसके मर्डर का झूठा इल्जाम मेरे पति पर लगाया जा रहा था सर हम आपका एहसान कभी नहीं भूल सकते इतना कहते कहते विजय की पत्नी के आंखों से आंसू भी टपकने लग गए अंकल अंकल तब विजय की बेटी अन्वेषा भी भीड़ में से निकलकर सामने आई और फिर उसने विक्रांत को फूलों का बुक्के देते हुए कहा अंकल थैंक यू आपने मेरी जान बचाई उसके लिए थैंक यू हम्म। पहली बार किसी लड़की ने विक्रांत के हाथों में फूलों का बुके रखा था वो भी इतनी छोटी सी क्यूट बच्ची ने विक्रांत का दिल भराया थैंक यू बेटा विक्रांत ने उस लड़की के हाथ में फूलों का बुके लेते हुए कहा पूरा ऑफिस तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा सब लोग विक्रांत के लिए ताली बजा रहे थे विक्रांत को अब कुछ समझ में आया दरअसल विजय एक टीवी एक्टर है ऐसे में उसे अपनी इमेज का बड़ा ख्याल रहता है अब जबकि विजय निर्दोष साबित हो चुका था तो वो इसका अच्छे से प्रचार करना चाहता था इसके सहारे वो पब्लिसिटी हासिल करना चाहता था इसीलिए आज यहाँ पर वो मीडिया की फौज लेकर आया हुआ है इसके साथ ही वो विक्रांत और डी नगर ब्रांच के ऑफिसर्स को भी उनके काम के लिए तारीफ दिलाना चाहता था विक्रांत सर विजय ने विक्रांत का हाथ पकड़ते हुए कहा आपको अंदाजा भी नहीं है जब मेरी बेटी का किडनैप हुआ था तब मैं कितना परेशान था मुझे झूठे ही मर्डर का इल्जाम अपने सिर पर लेने के लिए फोर्स किया जा रहा था अगर आप ना होते तो मेरे साथ ना जाने क्या हो जाता आपने ना सिर्फ मेरी बेटी की जान बचाई बल्कि मुझे भी झूठे इल्जाम से बचाया सर आपका यह एहसान मैं और मेरा परिवार कभी भी नहीं भूल सकता विक्रांत मुस्कुराता हुआ अपनी तारीफ सुन रहा था जाहिर है कि इस वक्त उसके मन में खुशी की लहर दौड़ रही थी और हाँ एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ फिर विजय ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ते हुए कहा मीनाक्षी मैडम मेरी सीनियर है मैंने उनसे सीखा है उन्हीं से मैंने एक्टिंग का गुण सीखा है मीनाक्षी मैडम ने जो कुछ भी किया था उन्होंने अपने बेटे के लिए किया था भले ही उन्होंने मेरी बेटी को किडनैप किया था लेकिन उनकी ये नीयत कभी नहीं थी कि वो मेरी बेटी को कुछ नुकसान पहुंचाती इसलिए मैं अब उनके ऊपर लगाए गए सभी चार्ज अपनी तरफ से वापस लेता हूँ मैं भी चाहता हूँ कि मीनाक्षी आंटी जल्द से जल्द जेल से बाहर आ जाए जैसे ही विजय ने यह बात कही एक बार फिर से पूरा ऑफिस तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा सभी विजय के इस पहल का दिल खोलकर स्वागत कर रहे थे विक्रांत भी विजय के इस निर्णय से बेहद खुश हुआ अब भले ही विजय ये सब पब्लिसिटी हासिल करने के लिए कर रहा था और पूरे मीडिया के सामने इसका अनाउंसमेंट कर रहा था लेकिन वो काम अच्छा कर रहा था और अच्छा काम चाहे जहां किया जाए चाहे जिसके सामने किया जाए वो अच्छा ही होता है वैसे भी विजय ने पहले से ही विक्रांत से वादा किया था कि अगर उसने टीना के असली कातिल को ढूंढ लिया तो फिर वो मीनाक्षी नेगी के ऊपर लगे सभी आरोप वापस ले लेगा अब विजय ने केस वापस ले लिया था ऐसे में बहुत जल्दी मीनाक्षी नेगी और उसकी मेड सुनीता को जेल से छोड़ दिया जाएगा वो दोनों जेल जाने से भी बच गई थी हम्म, दस साल हो गए विजय ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा मैं और रोहन बचपन से हमेशा साथ रहे हैं हम साथ खेले हैं साथ बड़े हुए हैं हम दोनों दोस्त कम भाई ज्यादा थे लेकिन एक केस ने हमारी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी मैंने अपना दोस्त खो दिया और मेरा दोस्त एक झूठे केस में दस साल तक जेल में पड़ा रहा हमारे बीच ऐसी गलतफहमी हो गई थी लेकिन लेकिन मैं ये दोस्ती खत्म नहीं होने दूंगा हमारी दोस्ती फिर से पहले जैसी ही रहेगी मेरे दोस्त की जो मदद हो सकेगी वो मैं करूंगा विजय की आंखों से आंसू बहने लगे और यहाँ पर मौजूद सभी लोग काफी भावुक हो उठे इसी बीच मीडिया के लोगों में से किसी ने विजय और रोहन का पुराना वीडियो प्ले कर दिया यह भी शायद विजय की पब्लिसिटी बटोरने का एक तरीका था हालांकि इस वीडियो में विजय और रोहन के बचपन से लेकर बड़े होने तक के समय का कई सारी यादें दिख रही थी एक बार फिर इस वीडियो को देखकर विजय की आंखें भर आई और वो काफी भावुक हो उठा विजय ही नहीं बल्कि यहाँ पर मौजूद सभी लोग काफी भावुक हो उठे थे विजय तो अचानक से फूट फूट कर रोने लग गया था लगभग एक घंटे बाद मीडिया के साथ इंटरव्यू खत्म करने के बाद विक्रांत को अभी रोहन नेगी केस के बारे में भी पता करना था सबसे पहले तो रोहन नेगी के केस का हला भला करना था सबसे पहले तो हेडक्वार्टर के चीफ मिस्टर कटियार ने अब तक रोहन नेगी के ऊपर लगे सभी चार्ज हटाकर उसे जल्द से जल्द रिलीज करने का ऑर्डर पास कर दिया था दूसरी चीज चूंकि रोहन नेगी को गलत सजा दी गई थी ऐसे में उसने सुनीता के पति के साथ मिलकर जो जेल से भागने की कोशिश की थी उसके लिए भी उसे कम सजा दी जाएगी क्योंकि उसका केस थोड़ा अलग है तीसरी तरफ अब अंकित तलवार ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था उसने पुलिस के सामने कह दिया था कि टीना गांधी का खून उसी ने किया था अब इस केस के आगे की कार्रवाई का काम भी विक्रांत को ही देखना था क्योंकि उसी ने ये केस सॉल्व किया है क्योंकि अंकित तलवार के पिता मिस्टर वीरेंद्र तलवार और उनके नौकर राजू ने गलत गवाही दी थी ऐसे में उन्हें भी अब कोर्ट द्वारा दी जाने वाली सजा भुगतनी होगी इसका मतलब इस वक्त रोहन नेगी का पूरा परिवार जेल में था रोहन नेगी और उसकी मां मीनाक्षी नेगी तो जेल में पहले से ही थे लेकिन अब अंकित और मिस्टर तलवार को भी जेल में डाल दिया गया है हालांकि अब बहुत जल्दी मीनाक्षी नेगी और रोहन को बाहर कर दिया जाएगा लेकिन फिर भी मीनाक्षी का दुख कम नहीं हुआ वो जितना प्यार रोहन को करती है उतना ही अंकित को भी भले ही अंकित उसका सगा बेटा नहीं था लेकिन मीनाक्षी ने उन्हें बचपन से पाला था ऐसे में वो उसे प्यार करती थी इस वजह से मीनाक्षी का दुख तो जल्दी कम नहीं होने वाला था उनका एक बेटा जेल से बाहर आया तो दूसरा बेटा और पति भी जेल में चला गया मीनाक्षी को अपने बेटे रोहन के बेकसूर साबित होने की खुशी तो थी लेकिन अपने दूसरे बेटे अंकित के जेल जाने का दुख भी था वाकई में ये सब किस्मत का ही खेल है भगवान किसी किसी के जीवन में दुख कभी खत्म ही नहीं करता है इस बीच विक्रांत को डीसीपी डिसूजा साहब की कही हुई बात फिर से याद आ रही थी हर जुर्म के पीछे किसी की आंखों से बहा समंदर भर का आंसू होता है सच में इंसान को जिंदगी कितने रंग दिखाती है भले ही ये केस एक छोटी सी वजह से हुआ था लेकिन किसी के गलत डिसीजन के चलते एक आदमी को बिना किसी गलती के दस साल तक जेल में रहना पड़ा वो इंसान इतना मजबूर था कि अपनी बेगुनाही भी साबित नहीं कर पाया इस बेबसी ने उसे जेल से भागने पर और किडनैपिंग करने के जुर्म के लिए विवश कर दिया सच में कई बार तो परिस्थिति और बेबसी किसी नॉर्मल इंसान को भी अपराधी बनने पर मजबूर कर देती है इस मर्डर केस के पीछे सीधे तौर पर तो सभी मुजरिमों को सजा मिल चुकी थी लेकिन असल मायने में तो इस पूरे मामले की मास्टरमाइंड खुलेआम खुले में घूम रही थी अभी तक उसका कोई कुछ नहीं कर पाया था भले ही अंकित ने टीना का मर्डर किया था लेकिन उसके साथ भी तो कहीं ना कहीं गलत हुआ था उसे भी तो मोहनी ने धोखा दिया था और शायद मोहनी ने अगर ऐसा ना किया होता तो फिर ये सब कुछ होता ही नहीं विक्रांत ये सब सोच ही रहा था कि अचानक से उसका फोन बच पड़ा उसे स्वाति ने फोन किया था विक्रांत ने फोन पिक किया तो फिर स्वाति ने तुरंत ही कहा सर मैं आपके ऑफिस के बाहर गेट पर खड़ी हूँ कहाँ है आप आप किसी अंदर के आदमी से बात करने के लिए कह रहे थे ना हम्म, स्वाति तुम तुम ठीक तो हो ना विक्रांत के मन में अभी भी कहीं ना कहीं पृथ्वी को उड़वट के खतरे का डर घूम रहा था हाँ मैं तो ठीक हूँ बट आप जल्दी आइए स्वाति ने जवाब दिया ओके मैं आ रहा हूँ बस पांच मिनट में विक्रांत ने फोन रख दिया और फिर अपना सारा काम दूसरे ऑफिसर्स को समझा कर फटाफट ऑफिस से बाहर की तरफ जाने लगा इस वक्त उसके दिमाग में यही चल रहा था कि भले ही मेरे पास करोड़ों रुपए क्यों ना आ गए हों लेकिन ये पैसे तो इसी नौकरी से आए हैं मैं केस सॉल्व करता हूँ मुजरिमों को सजा दिलवाता हूँ सच्चाई सामने लाता हूँ और बेगुनाहों को बचाता हूँ आखिर इसी काम के लिए तो मुझे इतने सारे पैसे मिलते हैं और शायद मेरा जन्म भी दोबारा से इसीलिए हुआ है ताकि मैं अपने पूर्व जन्म में किए हुए पापों का प्रायश्चित कर सकूं। क्या पता अगर मैं अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करना बंद कर दूं तो फिर मेरी जिंदगी ही खत्म हो जाए यही सोचकर विक्रांत ने अपने काम से मुंह मोड़ने का निर्णय बदल दिया और जैसे ही स्वाति ने उससे आने के लिए कहा वो मना नहीं कर सका अभी भी बाहर का मौसम बहुत खराब था ठंडी तेज हवा के साथ ही जबरदस्त बारिश भी हो रही थी लगातार बारिश अब मुश्किल बढ़ाती जा रही थी विक्रांत अपने काले छाते को लिए हुए जल्दी जल्दी ऑफिस से बाहर की तरफ बढ़ा चला जा रहा था इसी बीच उसके मन में मोहिनी का भी ख्याल आया भले ही मोहिनी इस अपार्टमेंट मर्डर केस में बड़ी चालाकी से बचकर निकल गई उसके चलते किसी को उम्र कैद हो गई थी लेकिन फिर भी पुलिस उसके ऊपर उंगली तक नहीं उठा सकी अब अगर मेहता सिस्टर्स के मर्डर केस में उसका जरा सा भी हाथ है तो फिर विक्रांत उसे नहीं छोड़ने वाला इस बार मोहनी का सामना शहर के सबसे चालाक जासूस विक्रांत सक्सेना से है और मोहनी कितनी भी चालाकी क्यों ना कर ले लेकिन अगर उसने मेहता सिस्टर्स के मर्डर में कुछ भी किया है तो फिर विक्रांत के पंजे से बचना नामुमकिन है क्योंकि मुजरिम चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो एक जासूस से ज्यादा शातिर नहीं होता है